इनमें से हर एक को समझाने के लिए हमने मिसालें दी और जब वो न माने तो हर एक को हमने पीस कर रख दिया